लिए प्रद्युम के लिए करने के तो उसमें हिंदू वहां बलदाऊ आदि सब लोग थे वहां किसी ने कहा अरे बलदाऊ जी के साथ अक्षों से खेले यहां तो बलदाऊ जी को बुलाया गया और उनसे खेल अक्षों के पाठों के साथ खेल रहे हैं बलदाऊ जी ने सहज समारोह का राम लगाया तो रुकने से जीत गया खबर में देश का राजा को हंसने लगा अरे ये ग्वालियर जाने का राजा खेल है अरे रुक्मी लक्षण पान जब रुक्मी ने लाख मोहर का बाद लगा तो बलदाव जीत गए रुक्मी बोला नहीं मैंने जीता है ये झूठ बोल कर तब तो बलदाव जी ने क्रोध में आकर के राम कोटि पन्ना लगे दस करोड़ मौलों का नाम एक साथ लगा दिया वृंदावन इसलिए अगर तू जीत गया ये दस करोड़ मौलों का नाम लगाया तो भी जीत गए तुम गए कपट से जीत करने लगा नहीं मैंने जीता सवा करोड़ को मैंने जीता है और आकाशवाणी हुई अरे नए गाने धर्म में वचने निर्वाण है होता बेटा बंगाल में जीता है उसमें झूठ बोलता है और दुष्ट राजाओं में मतलब लग करके आकाश बांध कर निवारण कर न्याय करने लगा बंगाल जी का प्रभाव करने लगा अरे वन को चला तुम जंगल में घूमने वाले तुम जानते हो तो अक्षर से खेलो अक्षर से और बाणों से तो राजा लोग खेलते हैं जब ऐसा तिरस्कार करने लगा तब बंगाल जी ने जब क्रोध में भरते हुए तो वहां बंदा लोगों का रखा था तो लेकर के मारा उसको बस फिर क्या है मर गया तुझे में वो देश का जो राजा था वो भागा तो बलदाऊ ने उसको पकड़ करके सारे दांत फाड़ दिए और इधर उधर से सारे लोग भागे श्याले होते सके और रुक्मिणी का भाई मार दिया बलदाऊ ने इसलिए रंग भया साधु असाधु का कर पर भगवान चुप रहे अगर हमें कहते हैं कि दाऊ दादा तुमने बहुत बढ़िया किया तो तो नहीं नाराज हो जाएगी हाँ? और समाज में तुमने ऐसा क्यों किया इसको क्यों मार डाला तो दाऊ दादा नाराज नहीं बोले मौन रहे भगवान ऐसे समय तक गृहस्थी को मौन रहना चाहिए और आगे सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान शंकर का एक भक्त बलि के सौ पुत्र थे ना उनमें एक बाणासुर भी उनका बड़ा पुत्र था बलि का पुत्र था ये शिवजी का बड़ा भक्त था शोभितपुर में रहता था भगवान की कृपा से देवता भी इसके दास बने हुए थे भगवान शंकर की कृपा से इसको हजार बाबा थी तांडवी शिवम को गया भगवान शंकर ने इसको भर दिया बोले भगवान बोले शंकर के तू हमसे वर मांग ले क्या चाहता क्या आप मेरे नगर की रक्षा किया करें मेरे नगर पर कोई चढ़ाई करे तो आपको लड़ना करे भगवान क्या इच्छा एक दिन वो बाहर से और उसके सामने तो जो में आए वो बड़ा भगवान उसकी जान में खुजली बस्ती है भगवान शंकर के चरणों को स्पर्श करके बोला हे महाराज मैं आपको सर्वेश्वर समझता हूँ आपको प्रणाम करता हूँ आपने हजार भुजाएं जो दी हैं ये तो मेरे लिए भाग हो क्या त्रिलोकी में मेरे सामने युद्ध करने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा इनमें खुजली मस्ती होती है ये पर्वतान क्यों है तो पर्वतों को मैं क्यों कर देता दिग्गजान रक्षण मेरे सामने दिग्गज ही भागा एवं तब बचा श्रोता भगवान शंकर बोले ऐसे इसको हमने बल दिया बड़ा अभिमान हो गया ये मुंह मृदा वे जागना ये तेरा ध्वजा टूट के तो गिर गया तो समझ लेना तेरे अभिमान को नष्ट करने वाला है मेरे तो ये सुनकर के वहां से बड़ा प्रसन्न हुआ अच्छा ऐसा कोई दिन तो आएगा कोई हमसे युद्ध करने वाला मिले कोई तो उसकी प्रतीक्षा करने लगा उसके उषा नाम की एक कन्या है उसने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा जो प्रद्युम्न के पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा और जब स्वर्ण टूट गया तो उसी अनुरुद्ध का ही स्मरण करे तो आप जब उसी चिंता में उसकी एक सखी थी उसका नाम था चित्रलेखा चित्रलेखा ने पूछा कि बहन तू हर समय चिंतित क्यों रहती है दुखी क्यों रहती है तुझे क्या चिंता है किसको घूम रही है तेरा क्या मनोरथ है अभी तक तेरा विवाह भी नहीं हुआ है तो उषा देवी के एक सखी मैंने स्वप्न में एक पुरुष को देखा है सांगला सांगला उसका वर्ण है कमर के समान दोस्त हैं पीले वस्त्र कौन हुआ था तो नर नर श्रेष्ठ को मैंने देखा है मैं उसी के लिए दुखी हो रही हूं कम मर गए मैं उसी को खोज रही हूँ चित्र लिखा बोली कि यज्ञ संसार में है खेलो की है तो मैं उसको ला सकती हूँ तब दुखम हरामी तब उसमें कह रहे देवताओं को चित्र बनाना सामने कोई व्यक्ति हो उसको चित्र बनाना पर तो कोई कठिन नहीं देख पाता है और बैठे बैठे सारे देवताओं के चित्र बनाना बना उसमें ले जो कहें स्वप्न में देखा है देखता में सच तो कोई नहीं है जो प्रसिद्ध को तो सब देखता है सब चित्र दिखाए कृष्ण की नहीं फिर गंधर्वों के चित्र बनाकर जो दिए देख फिर सिद्धों के फिर चारणों के फिर कन्नगों के फिर दैत्यों के फिर विद्याधरों के फिर यक्षों के फिर मनुष्यों का नंबर आए मनुष्यों के चित्र बना बना करके उसके सामने रख रही है यथावत पते भी जो वस्त्र पर लिखती जाती थी ये देख ये देख ये और मनुष्यों में भी यादवों के वृत्त नंबर आए तो यादवों के चित्र बनाए जब श्री कृष्ण और बलदाव जी के चित्र बनाए गए उसके बाद प्रद्युम्न का चित्र बनाया फिर अनिरुद्ध का बनाया गया उसको देख करके बोलिए सो सो यही तब तो मैं देखने का अरे ये तो श्री कृष्ण का पवित्र है नासी है तो बोले फिर बोले तो हम ही जाते हैं मैं ओ चित्तले का ऐसी कैसी तो लोग नहीं होती स्त्रियां आकाश मार्ग से गई और द्वारका में से होकर से भी ले आई निरुद्ध को के सुतम अनुरुद्धम योग माया गृहित्वा अपनी लोग माया से तो सोया हुआ और आंख खुली तो आप देखता है मिशोनपुर में सक्षम प्रियम दर्शन लेट देख ले ले उषा ने तो उस को देखा और अनुरुद्ध के साथ अपने घर में रहने लगी बड़ी सेवा पूजा करती थी उषया अनुमान और जन समुहान न रोज बहुत समय बीत गया कुछ तथा सेवकाश स्थान जगवीर विद्यमान जो वहां द्वारका रहते थे सेवा उन्होंने गांसों से जाकर के एक दिन कहा महाराज आपकी कन्या का कोई कुल का कुल दूषण देखा जाता है विरुद्धाचरण देखा जाता है लक्ष्य ना हाँ, अच्छा लक्षण से जानते हैं उसको सुन करके बारह सौ को जानते हुए ये एक साथ उतर के कन्या दर्शन हो गया तो साथ घर में सीधा चला गया वहां देखा कि वो बातों से वो अनंत के साथ खेल रही है तो उसके बाद तुम हुआ कि हमारे यहां ये कैसे तो अनुरोध लेकर के हाथ में शस्त्र और सिले खड़ा हुआ गया से बाणासुर ने जब उसको नाक हाथों से बांध करके जेल में डाल दी अगला द्वारका में देख रहे हैं अमृत कहाँ गए अमृत कहाँ गए अरे कहाँ गए कहाँ घर में सो रहे थे उनका पता ही नहीं एकदा नारदा बद्धा स्वर्णरथ के बाद कहा गए नारद जी वहां आते ही जाते रहते थे नारद जी पूछा महाराज अमृत कहाँ बताया पता पता है एक तो महाराष्ट्र की जेल में रहा है महाराष्ट्र में क्या था बारह अक्षरों में सेना को लेकर के समन्ता बाणगरम रूप बारह अक्षरों में सेना ले जाकर के बाणासुर का लगा छोड़ दिया बस पहले तो भगवान शंकर जी की रक्षा करते थे तो भगवान शंकर आए लड़ने के लिए बैल का बैठ करके यह बेटा बन जाओ श्री कृष्ण से भगवान शंकर जी का युद्ध है तब अब भगवान राम क्षण युद्ध मासी और शिव जी के साथ जो युद्ध हुआ बलदाऊ श्री कृष्ण का और उसको देख करके रमान होते रात गुप्त कृष्ण शंकर प्रद्युम्न कार्तिक प्रद्युम्न का कार्तिक के साथ हाँ, ऐसे तामसे दानत्रेण ब्रह्मा के देवता सूर्य को देते हैं स्कंद प्रद्युम्न रायु पीड़ितसन रक्तम विरुंचन घना अटापन प्रद्युम्न के बाद से पूरे धोकर के स्कंद वहां से बाहर के चले गए ऐसे भगवान बनासुर ने तब पान से हाथ में धनुष लेकर के भगवान के सामने भगवान ने उसके सारे धनुष काट शुद्ध शंख लाभ किया तो बाणासुर की माता उसका नाम का पोपरा वो अपने पुत्र की रक्षा के लिए वहां नर्मा नंगी होकर के खड़ी हुई भगवान श्री कृष्ण के सामने भगवान ने युद्ध करना बंद कर दिया बाहर से अपने नगर में जाकर के चला गया प्राण बचा करके तरह से इसके ग्रहण करेगम भगवता भूत बने के कारण सभी सही हो या कृष्णन अर्थ भगवान शंकर का जो ज्वर है वो कृष्ण की तो आया भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना ज्वर शीतल जो भेज दिया दोनों ज्वरों का आवास में युद्ध दिया कला वैष्णव जरूर उनका शैव जरूर गीता कृष्णन कृष्णा वैष्णव जल से पीड़ित होकर के भगवान शंकर के जल ने स्तुति की अब तो हम तेरे साधु सही हैं फिर भगवान ने कहा अच्छा और तुम्हारे तुम्हारे जल से तुमको कोई भय नहीं होगा हे कृषक तो ब्रह्म प्रसन्न उसमें तब मथुरा भयम दे तू जो लोग संवाद स्मृति तस्त तत्व तो भयम न लगे जो हमारा ये संवाद श्रवण करे उसको भी जल का भय न हो को कोई दूसरा अर्थ लेकर करके बैठ करके आया और भगवान श्री कृष्ण से ये दिखाने लगा हम्म, भगवान ने अपनी बाबू को तो बाहन कृष्ण बाबू कृष्ण बाहन भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उसके हाथों को ऐसे काट दिया जैसे को फुलारा लेकर के वृक्ष की शाखा को उठाता है तो उस समय तो भगवान शंकर ने कहा श्री कृष्ण के पास आकर से महाराज आपके तो साक्षात्कार परमात्मा है मैंने इसको अभय रखा है इसको आप मारे नहीं अयम मारो अयम मारो नौ दिया असमया को तो चार हाथ पहले दिए भगवान ने भगवान ने कहा हमने हमने भी कह रखा सही से तुम्हारे कुल में जो उत्पन्न होगा वो हमारे हाथ को देखनी हम उस तुम्हारे लिए और मानो मैं आपको दोस्ती यथा बन जाता है तब वंशो मया ना बच जाए एक भरो ये तो, तो पंजाब तो का पुत्र है पंजाब के वंश में जो कनी का पुत्र है पंजाब के वंश में उत्पन्न समझ तो एक बार यमुना के बालक खेलते खेलते और एक वंश में चले वहां एक पूरा था उसमें जल नहीं था वहां एक गिरगिट पड़ा था उसमें पिपरास उन बच्चों ने उसको निकालने का बहुत प्रयत्न किया तो निकला नहीं भगवान श्री कृष्ण से जाकर कह दिया महाराज एक बहुत बड़ा प्रतिलाश पड़ा है हमसे निकलता नहीं भगवान श्री कृष्ण आए और अपना हाथ बढ़ा करके तो उस गिरगिट को बाहर किया भगवान के हाथ का स्पर्श पाते ही हो तप्त सुवर्ण के समान उसका शरीर हो गया देवो बहुआ देवता हुआ भगवान बोले अरे तुम ये ये तुम लोग कम नहीं थी भाई कौन हो तुम अपना पता बताओ है भगवान ने जब पूछा तो वो कहने लगा मेरा नाम है नृत्य आपने सुना होगा एक शाकु वंश में एक शाकु का पुत्र मेरा नाम है नृत्य दानियों में निर्माण भवन मेरा नाम था दानिशु विख्यात क्या आप तो जानते हैं महाराज मैंने इतनी गंगों का दान किया कि कोई पृथ्वी के कणों को दे सकता है मैंने जितनी गलियों का दान किया वैसे नहीं मिल सकता जिन तारा आकाश में तारा तो दिन दो तो मैंने जो उनका दान किया है उन्हें भी नहीं जा सकता वर्ष धारा वर्षा की धारा तो दिन दो आपको मैंने बहुत गलियों का दान किया और बहुत ही कैसी थी ऐसी नहीं बुद्धि बुद्धि जो राम वैसु तरुणी को दूर देने वाली और कपिल वर्षा सरसता योग श्रेणी सोने का कुंभ बना हुआ रूप थोड़ा चांदी में पर बड़े हुए और न्यायालय देता ऐसे आसन होना ऐसे नहीं न्याय से अधिक थी और कैसे ब्राह्मणों को भी कपिल सड़न सड़न को गए ब्राह्मणों को भी दस दस रुपये दे करके सजा लगा करके और जो तपस्वी थे गुणवान थे ऐसे ब्राह्मणों को जान और आसाराम तो कहते हैं कि दान करते हुए मेरे सामने विपत्ति आई गौ दान करते समय एक किसी ब्राह्मण की गौ मेरी गौ मैं आपको मिल गई थी मैंने अपनी समझ करके ब्राह्मण को दान कर दी ब्राह्मण को ले जा रहा था और जिस ब्राह्मण की बहुत थी उसने पागली करी गौ तो मेरे लिए तू माने जा क्या है हमने तो राजा ने दान की है राजा कैसे दान कर देगा मेरे लिए चलती राजा के पास राजा के पास बात करते हूँ इनके राजा ये तो मेरे तथा स्वामी गवाम लक्षण में देना तेरी अल्लाह को मैं नहीं चाहिए हमको तो अपनी चाहिए हाँ। वो ब्राह्मण भी हम नहीं भी यहाँ किसी ने इतने में राजा की मृत्यु का समय आ गया राजा चले गए एक अपने तो समय जनकू चले जनलों का हम होता यमराज ने पूछा बोलो राजन पहले पाप का फल बोलोगे या पूरी का तुम्हारे पुण्यों के घर का कभी हम करेंगे बहुत पुण्य किया है तो कहते अच्छा पाप का फल दे दो हमें कदा तो उन्होंने कहा कि इन्होंने कौन तो उन्होंने कहा पाप अरे तुझे असुभम हिंदे के सभी अरे पाप हरे जागृत तुम्हारा जो हमने अपने क्लास में इसमें करे आपके कृपा से अब हम इस जीवन से छूते हैं भगवान ने सबको सुनते हुए सब बच्चे वहां से देखा ब्राह्मणों का जो धर्म है इससे बचना चाहिए नाम भला आलम ये विषम ये प्रतिक्रिया विष को खा ले तो उसकी प्रतिक्रिया है और ब्राह्मण का धन ऐसा विषय है जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है हिमस्त दुश्मन कारण बंद रही प्रशांत दुष्ट पर पूरे खाने वाले को और ये समूलन का में कुलम समूलम का अतो ये ब्रह्मत्व न हो ब्रह्मत्व न हो अरे तुम मेरे बच्चों ब्राह्मण को अपराध भी करे तो उसे सह जाना नमस्कार महाराज पंडित नमस्कार आम लथा नाम लथा अंजन ना और तुम लोग बोलते हो ना हम लोग रामों को प्रणाम करते रहते हैं फिर नमस्कार करते रहते रहो यूं हमें समझो गंधरास भगवान कहते हैं ब्राह्मणों को ऐसे नतमस्तक नहीं होगा हम उसे दंड देंगे अपराम ब्रह्मक्रम हड़ताल नरक पाते तीन बोलिए श्री कृष्ण भगवान

नंद बाबा यशोदा मैया को उन्होंने प्रणाम किया उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और वेदाधार सांगो निश्चिरम तथो रामो गोपवृद्धा नृत्य अपने से बड़े बड़े जो लोग थे बलदाव ने उनको प्रणाम किया छोटे लोग ने उनको प्रणाम किया सामने में मिल करके आके बंगाल जी के पास बैठ गए तो वहां की द्वारा जी का कृष्ण मंगल पूछने लगे बोले भाई दादा यादव यादवेशी कुशलम स्थिति यादव कृष्ण भी करते हैं जीवन ना स्मर तू अरे आप लोग द्वारा कभी स्मरण कर लेते हैं आप लोगों ने कंस मार दिया रथ को जीत करके तुम बड़े भारी किले में रहते हो ये तब तो दृष्टिया मंगलम गोपिया हंस करके बोली देखिए हे राम स्त्री जन कृष्ण कृष्णा सुखनास्ते थी स्त्री मात्र को प्रिय लगने वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण सुख से तो हैं कल अपने माता पिता का नमन करते हैं कभी हमारी सेवा की याद करते हैं अस्नातन सेवा स्मरक और जिनके लिए ये श्याम के लिए हम पति पुत्रों को छोड़ करते जिनकी हो गई पाठशाल भाषण कथन सभी सज्जीय सज्जीय तो। तब तब से बचा पुरस्कार कथन तो उस कर्तव्य की बातों में क्या वहां की स्त्री आ जाती क्यों बोल क्या कटिया तकवा हाँ बड़ा खतना वो जरूरी है श्री तो कृष्ण को चलते ही चला तो दूसरी बात कर हमारे बिना जैसे उसका समय व्यतीत हो जाता है तो उसके बिना हमारा भी जीवन भी हो जाए यथा अस्नान बिना कष्ट कालो याति हमारे बिना जैसे उसका समय व्यतीत हो रहा है तथैव तेन बिना अस्मकम मतलब, वैसे उसके बिना हमारा भी समय समर्पित होगा तो चाहे दुखी हो जाते भगवान कृष्ण से परिवर्तन का यह विरुद्ध इस तरह से कभी देते भगवान का समर्पण करके हो ही बंगाल में निशान किया जय और वैसा दो महीने तक बंगाल में सुन मन को बुलाया नहीं आएंगे मन को मारा ये पापी मन को क्या रहा है यहाँ पाप में आगे बन जाती है बोले तेरी सैकड़ा खड़ा कर दूंगी धमकाया उन्होंने तब ये नाम भाग्यों के बोले राम का विक्रम जाने में तुम्हारा पराक्रम जानती हूँ साक्षात सूर्य भगवान होगा आपने तो पृथ्वी अपने ऊपर धन रखी है भक्त और विभिन्न प्रधानमंत्री के नाम लोक मरक ये ये नवरात्र को आप सुना केवल आपको राम नाम मतलब दृष्टि का गणित में देखता दर भर गई तथा लक्ष्मी तस्मय नीलाम्बर भूषण बाला न हो तो राम नीले राशि कर रहे हैं नीलाम